हसन और कबूल के अंदर उसके एतबार मुनासिब के मुताबिक होने की वजह से होगा वनफितात ही अई इरतफ़ा इनफितात ही उसकी शान का कमतर होना बल्कि इन कहो वन फितात शान ही और उसकी शान का कमतर होना ऊपर आया था बुलंद होना यहाँ पर उसकी शान का कमतर होना गिर जाना बेआदमी हाँ उसके एतबार मुनासिब के मुताबिक न होने की वजह से होगा मुसनफ़ अली रहमा यहाँ पर ये बात बतलाना चाह रहे हैं सबसे पहले बतलाया कि कलाम फसीह कब होगा फिर बताया कि कलाम बलीग कब होगा अब कलाम बलीग तो है लेकिन इसकी शान बुलंद कब होगी और इसकी शान कब गिर जाएगी मिसाल के तौर पर एक कलाम है एक मुखातब है और उसके दस हाल हैं उन दस हाल की अगर रियायत कर दी जाए उन्हीं के अतबार से उन्हीं के मुनासिब कलाम ले आया जाए दसों हालतों का रियायत करके तो फिर ये कलाम अपनी शान के अंदर बुलंद हो जाएगा और आला दर्जे पर पहुंच जाएगा और अगर किसी भी एक की भी रियायत न की और अगर उससे कम की रियायत की जाए तो इस कलाम की अब घट जाएगी मुख्तद हाल के मुताबिक तो है लेकिन पूरे तौर पर नहीं इस वजह से कलाम की शान क्या हो जाएगी घट जाएगी बुलंद ना होगी उसी को इन्होंने बतलाया था कि कलाम की शान का बुलंद होना हसन और कबूल में उसके अतबार मुनासिब के मुताबिक होने की वजह से होगा और उसकी शान का कम तर होना गिर जाना वो एतबार मुनासिब के मुताबिक न होने की वजह से होगा एतबार मुनासिब की मुताबकत का मतलब वो चीज़ें जिनका हाल तफाजा करता है उनके मुनासिब कर दें तो ये एतबार मुनासिब हो गया और उसी को मुख्त हाल भी कहा जाता है आगे फरमा रहे हैं देखो मतन के अंदर فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام बस मुकतब हाल वो मुकतब हाल वल एतबारमनासिब लाल वलमकामी मुकतब हाल ही एतबार मुनासिब है मुकतब हाल ही एतबार मुनासिब है यानी जो मुकतब हाल है वही एतबार मुनासिब है देखो मुख्त हाल और एतबार मुनासिब ये अलग अलग चीज़ें नहीं एक हाल होता है और इधर क्या होता है मुख्त हाल यानी जिसका हाल तकाजा कर रहा है उसको क्या कहते हैं मुख्त हाल और मुख्त हाल किसको कहते हैं जो चीज़ जिन चीज़ों का हाल तकाजा कर रहा है उन चीज़ों को ले आना और उन्हीं को क्या कहते हैं एतबार मुनासिब यानी उन चीज़ों का एतबार कर लेना जो चीज़ें उसके मुनासिब हैं तो क्या हुआ वही मकसद हाल हुआ और वही क्या हुआ एतबार मुनासिब हुआ तो मालूम हुआ कि एतबार मुनासिब और मकसद हाल दोनों एक ही चीज़ है फरमाते हैं फमोबारमनासिबालमकामी बस मकतज़ हाल ही वो एतबार है अमर मतबर है जो हाल और मकाम के मुनासिब हो अब उसी की तशरी फरमा रहे हैं आगे यानी इदा उलिमा शानिल यानी जब ये मालूम हो गया कि कलाम की शान का बुलंद कलाम फसीह की शान का बुलंद होना कलाम फसीह की शान का बुलंद होना हसन ज़ाती के अंदर नहीं होगा मगर तो इसका तर्जुमा कर लेंगे उसने जाति के अंदर सिर्फ उसके एतबार मुनासिब के मुताबिक होने की वजह से होगा उसके एतबार मुनासिब के मुताबिक होने की वजह से होगा यानी इदा उलिमा यानी जब ये जान लिया गया कि कलाम की शान का कलाम फसीह की शान का बुलंद होना उसने जाति के अंदर सिर्फ उसके एतबार मुनासिब के मुताबिक होने की वजह से होगा इसका पता यहाँ पर एक इश्काल होता है उसी का जवाब अलामा युफीद इजाफतुलमस्तरी से दिया है क्या आपने यहाँ पर यह कहा कि कलाम की शान का बुलंद होना कलाम फसी की शान का बुलंद होना हसन जाति में सिर्फ एतबार मुनासिब की मुताबकत से होगा फिर जो आपने हसर किया है लईसा और इल्ला लाकर जो हसर किया है ये हसर आपने कैसे कह दिया ये बात तो मुसनफ़ के कलाम से मालूम नहीं हो रही है कहते हैं कि ये बात मालूम हो रही है इस तरह से कि पीछे आया है इरतफाऊ शानिल कलामी कलाम की शान का बुलंद होना तो यहाँ पर इर्तफा मसदर है इर्तफा मसदर है और मजदर इसमें जिन्स होता है और इसमें जिन्स के अंदर तो फर्द वाहिद मुराद होता है लेकिन खसूसियत उस वक्त होती है जबकि कोई करीना मौजूद हो कोई मुखस मौजूद हो जो उसके अंदर खसूसियत पैदा कर रहा हो कि अभी इससे इतना फर्द मुराद है और जब कोई करीना ही ना हो कोई मुखस मौजूद ना हो खास करने वाला तो फिर उस वक्त में इसके अंदर इस्तराक के माना होते हैं यानी सबको ये लिए हुए होता है तो अब इसका मतलब क्या होगा कि हर कलाम की शान का बुलंद होना हर कलाम की शान का बुलंद होना तो ये मतलब होगा तो इसीलिए जब हर कलाम की शान का बुलंद होना तो सारे के सारे कलाम तो इसके अंदर हसर खुद बहुत पैदा हो गया क्योंकि लफ्ज़ हर जो आता है वो भी हसर पैदा करता है देखो फरमा रहे हैं अलामा युफीदू इजाफतमस्तरी उसकी बिना पर जिसका मसदर की इजाफत फायदा दे रही है एक बात आगे एक चीज़ से इन्होंने यही जिक्र कर दी और दूसरी चीज़ आगे जिक्र कर रहे हैं तो सब जानते हैं कलाम एक इन्होंने क्या कहा कि अगर एतबार मुनासिब की मुताबकत हो जाए तो कलाम की शान बुलंद हो जाएगी और एक मुकदमा हमें पहले से मालूम है एक बात पहले से मालूम है कि कलाम को मकसद हाल के मुताबिक कर दो तो कलाम की शान बुलंद हो जाएगी दूसरे वही जो दूसरी चीज़ है कि कलाम को मकसद हाल के मुताबिक कर दो तो उससे भी कलाम की शान बुलंद हो जाती है उसी को जिक्र फरमा रहे हैं वमालूम और ये बात मालूम है कि इन नमा यरतफ़ बिलबलागती अल्लती ही हाली के बलागत के ज़रिए बस बुलंद हो जाती है या बलागत क्या कि जो नाम है कलाम फसीह के मुख्त हाल के मुताबिक होने का बलागत जो नाम है कलाम फसी के मकतज़ हाल के मुताबिक होने का बलागत किसको कहते हैं कि कलाम फसी हो मकतज़ हाल के मुताबिक हो ये बात हम जानते ही हैं तो देखो अब यहाँ पर क्या बात मालूम होती है कि दोनों एक कलाम फसी मकतज़ हाल के मुताबिक हो एक बात और दूसरे एतबार मुनासिब के मुताबिक हो दोनों बातें क्या हैं एक ही है इसी को फरमा रहे फ़कदमा मुराद बिलतबार मुनासिबी व मुख्तर हाली वाहिद बस ये बात जान ली गई कि मुराद एतबार मुनासिब से और मुख्तर हाल से एक ही है वमा सदक़ा बिलमताबक़ती लतबार मुनासिबी वला बिलमताबक़ती मुख्तर हाली यहाँ से अपनी इस बात को मजबूत करना चाह रहे हैं कि देखो अगर इस बात को नहीं मानोगे कि मकसद हाल की मुताबकत और एतबार मुनासिब का एतबार उसकी मुताबकत मकसद हाल और एतबार मुनासिब ये दोनों चीज़ें एक नहीं है ये तो मानना पड़ेगा कि एक है अगर कहो एक नहीं है तो फिर इससे खराबी क्या लाजिम आएगी खराबी ये लाजिम आएगी कि एक तो ये बात आएगी कि मुख्तज हाल मुख्तज हाल ही एक तो ये बात लाजिम आएगी कि बलागत क्या है वो मुख्तज हाल ही है बलागत मुख्तज हाल ही है और बलागत एतबार मुनासिब ही है दोनों बातें कही ना यहाँ पर कहा ना इन नवा अन्नल्लई शान कलामी के कलाम की शान का बुलंद होना कलाम फसी की शान का बुलंद होना उसने ज़ाती में सिर्फ किससे होगा एतबार मुनासिब के मुताबकत से होगा और ये बात पहले से भी मालूम है कि कलाम की शान का बुलंद होना वो किससे हो जाएगा मुख्तर हाल की मुताबकत से ही होगा तो देखो दोनों में हंस रहे हैं दोनों में हंस रहे ना कलाम की शान बुलंद किससे होगी एतबार मुनासिब से ही है ना और कलाम के साथ बुलंद इससे होगी मकद हाल से ही तो देखो दोनों में हसर है अगर इनको एक ना मानो तो फिर यह बात लाजिम आएगी इसके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो जाएगी कि एतबार मुनासिब ही है और मकद हाल ही है ऐसे कैसे हो जाएगा दोनों में हसर कैसे हो जाएगा हो ही नहीं सकता हो सकता है दोनों चीज़ें अलग अलग हों और फिर दोनों को हम ये कहते कि मुख्तद हाल ही से बुलंद होगा और इसी से बुलंद होगा ऐसे तो हो नहीं सकता तो इससे क्या बात मालूम हुई कि दोनों चीज़ें हैं एक ही हैं आगे फरमाते हैं फल यता अमल चाहिए कि गौर कर लें चाहिए कि गौर कर लें यानी इसके अंदर जिस तरह से हमने एक ये बात साबित की है इसी तरह और भी बहुत सारी बातें आती हैं अगर किसी को करना हो तो देखो मुतवल उठाओ और गौर करो देखो नहीं काफी है फल बलागत सिफतन राज लफ्जी बस बलागत सिफत राजन लफ्जी सिफत है जो राज है लफ्ज की तरफ बलागत सिफत है जो लफ्ज की तरफ राज है फल बलागत सिफत राजफ्जी बस बलागत व सिफत है जो राज है लौटने वाली है लफ्ज की तरफ बल बेतबारी क़ादत माना भी तरकीबी बल्कि उसके तरकीब के ज़रिए माना का फ़ायदा देने के अतबार से क्या कहना चाहते हैं बलागत किसको कहते हैं कलाम फसी का मकतब हाल के मुताबिक होना हम्म? और ये जो कलाम है ये क्या होता है लफ्ज़ होता है तो बलागत किसकी सिफत हुई लफ्ज़ की सिफत हुई उसी को फरमा रहे फल बलागत और सिफत राजात लफ्जी बस बलागत और सिफत है जो लौटने वाली है लफ्ज़ की तरफ यहाँ पर इन्होंने सुनने ये जो कहा है अल्लामा अब्दुल काहिर हैं शेख अब्दुल काहिर दलाइल एजाज एक किताब है उसके अंदर फरमाते हैं कहीं तो वो कहते हैं कि बलागत लफ्ज़ की सिफत है माना की नहीं और कहीं फरमाते हैं कि माना की सिफत है लफ्ज़ की नहीं तो उनकी इबारत के अंदर तनाफ़ुज है उस तनाफुज को दूर करने के लिए मुसनफ़ यह इबारत लेकर आए कि लफ्ज़ की सिफत है लेकिन किस एतबार से सिर्फ लफ्ज ही हो इस एतबार से नहीं आवाज़ ही हो इस एतबार से नहीं ये तो बगैर बरागत के कोई कलाम हो भी उसके अंदर भी लफ्ज़ पाए जाते हैं बल्कि ये लफ्ज़ की सिफत है इस एतबार से कि उसके अंदर मुख्त हाल की मुताबकत हो उसके अंदर वो खसूसियात उन खसूसियात की रियायत की जाए जो खसूसियात मुख्त हाल उन खसूसियात की रियायत की जाए जिन खसूसियात की वजह से कलाम बलिय होता है उन खसूसियात की रियायत की जाए जिनकी वजह से कलाम बलीग होता है देखो उसी को फरमा रहे थोड़ा सा इसमें इबारत में थोड़ा गौर करना पड़ेगा बस बलागत वो सिफत है जो लौटने वाली है लफ की तरफ बिमाना अन्नहु कलाम बलीगुन इस माना कर के वो कलाम बलीग है लाकिन लामिन लफ्जन वसल लेकिन इस हैसियत से नहीं कि वो लफ्ज है और बस आवाज़ है कि लफ्ज और आवाज़ होने की हैसियत से नहीं बल्कि इस हैसियत से कि वो कलाम बलीग है क्योंकि लफ्ज और आवाज़ वो तो सादे कलाम के अंदर भी होती है बलीग कलाम के अंदर बल्कि बलीग कलाम के लिए क्या फरमाया इस माना में कि वो कलाम बलीग है अरे लफ्ज की सिफत किस माना में है कि वो कलाम बलीग है हाँ सादा कलाम नहीं कलाम बलीग है लेकिन इस हैसियत से नहीं कि वो लफ्ज़ और आवाज़ है बल बेबारी फादत ही माना भी तरकीबी बल्कि उसके माना का फ़ायदा देने के अतबार से तरकीब के ज़रिए मरकब करने के ज़रिए बीच में ये शारह एक बात लेकर आए हैं अल गर्ज मसूल कलाम माना से क्या मुराद है यानी वो गर्ज वो मकसद जिसके लिए कलाम को ढाला गया और वो क्या है नीचे लिखा हुआ है वह खसूसियात अल्लती अक्तल हालू तो वो मकसद वो गर्ज जिसके लिए कलाम को ढाला गया वो क्या चीज़ें हैं वो खसूसियात हैं जिनका हाल तकाजा करता है इसी को फरमा रहे हैं बल्कि उसके माना का फायदा देने के अतबार माना का यानी उस गर्ज का जिसके लिए कलाम को ढाला गया है उसका फ़ायदा देने के अतबार से बिस तरकीबी तरकीब के जरिए है ये जो बिस तरकीबी तरकीब है ये इफादा से मुतल है तरकीब के ज़रिए उसके फ़ायदा देने के अतबार से तो यहाँ पर ये जो इबारत आई है इसका मतलब क्या हुआ कि बलागत जो सिफत है वो तो लफ्ज़ की सिफत इस एतबार से है कि वो कलाम बलीग है ये नहीं कि सिर्फ लफ्ज़ हैं और आवाज़ है क्योंकि तो बलागत के बगैर कलाम किया जाए मकसद हाल की मुताबकत न की जाए जब भी उसके अंदर लफ्ज़ आवाज़ तो होंगी लेकिन ये किस एतबार से है बलागत की सिफत अरे लफ्ज सिफत बलागत की किस एतबार से क्यों कलाम बली है कलाम बली है उसके अंदर उन खसूसियात की रियायत की गई है जिसका हाल तकाजा करता है फरमाते हैं मुतल रिफादती ही मुतल है बी इफादती ही के इफादती ही के आया था ना एतबार इफादती ही ये उसी के मुतल है वजालिका और ये ये क्या ये लिखा हुआ है अई कौन बलागत सिफत लफ्ज बेतबारी इफादती माना यानी बलागत का लफ्ज की सिफत होना उसके माना का फ़ायदा देने के अतबार से ये इस वजह से है कि बलागत जैसा कि गुजर चुका है नाम है कलाम फसीह के मकसद हाल के मुताबिक होने का जब बलागत नाम है कलाम फसीह के मकसद हाल के मुताबिक होने का तो ये लफ्ज़ की लफ्ज सिफत बनेगा बलागत की तो सादा लफ्ज नहीं बल्कि कौन सा लफ्ज बनेगा कि जिसके अंदर मुख्त हाल की मुताबकत की गई रियायत की गई होगी इसीलिए कहा था इन्होंने अन्नो कलाम बलेगन अरे समझ में आ रही ना <clears throat> اعتبار अन وعدمها अलमताबकती يكون باعتبار المعاني बेतबार التي يساغ لها الكلام यहाँ पर इन्होंने एक बात कही थी कि बलागत सिफत है जो लौटने वाली है लफ्ज़ की तरफ मदन में बल्कि उसके माना का फ़ायदा देने के एतबार से उसके माना का फ़ायदा देने के एतबार से उसी की इल्लत यहाँ पर बतला रहे हैं देखो ये बात जाहिर है कि मुताबकत का एतबार और अदम मुताबकत का एतबार यानी मुताबकत का होना और मुताबकत का ना होना वो तो सिर्फ मानी और अगराज उन मानी और अगराज की वजह से होता है जिसके लिए कलाम को ढाला जाता है ना के बेतबार अल्फाजिल मुफरदती वल कलिमिल मुजरदती ना के खाली अल्फाज और खाली कलाम खाली कलीमों की कलीमों का एतबार करना न कि खाली कलाम खाली अल्फाज और खाली कलीमों का एतबार करने की वजह से क्या कहना चाहते कहना चाहते हैं कि देखो मुताबकत और आदम मुताबकत का जो एतबार होता है वो तो सिर्फ उन मानी की वजह से और उन गर्जों की वजह से होता है कि जिनकी में कलाम को ढाला जाता है यानी वही खसूसियात जो होती है यानी कि सिर्फ जो है अल्फाज और सिर्फ कलीमे के अतबार से हो क्योंकि तो बलागत तो कहती उसको तो है कि जिसके अंदर खसूसियात रियायत की गई हो जिसके अंदर खसूसियात की रियायत की गई हो मुस्त हाल की रियायत की गई हो उसी को बलागत कहते हैं अरे समझ में आई भाई वक़ीर रम्मा युसम्मा फसाहतन ऐसन मतन कसीरम्मा युसम्मा फसाहतन ऐसन हम्म। यहाँ से इस बात को बतला रहे हैं कि बसा अवकात कसीर बसा अवकात बहुत सी मरतबा बहुत से अवकात उसको कहा जाता है उसका नाम रखा जाता है फसाहत भी फसाहत ऐसन किसका बला बलागत को बहुत सी मरतबा फसाहत भी कह दिया जाता है ये बात बतलाना चाह रहे हैं यहाँ से जैसे कहा जाता है कि कुरान का एजाज कुरान के जो एजाज है एजाज मतलब कुरान जो है ऐसी किताब है कि जिसकी वजह से लोग आजिज हैं कि वो उसका मुकाबला कर सकें उस जैसे कलाम ला सकें कि कुरान का जो एजाज है वो उसके फसाहत के आला तबके में होने की वजह से है कलाम का एजाज कलाम मजिद क्यों है क्योंकि वो फसाहत के आला दर्जे में है फसाहत के तबक़ात के आला दर्जे में है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर फलाहत फसाद फसाहत के तबक़ात के आला दर्जे में है इससे मुराद ये होता है कि बलागत उसके अंदर भरपूर है बलागत आला दर्जे के अंदर है ये माना मुराद होते हैं तो इससे क्या तो यहाँ पर ये कहना ये चाहते हैं कि बहुत सी मरतबा फसाहत को बलागत भी कह दिया जाता है जैसा कि कुरान के बारे में कहा जाता है कि वो फसाहत आला दर्जे में है इसलिए कुरान मुजिज़ है और उसका मतलब ये होता है कि बलागत के आला दर्जे में है वकसीर अम्मा और बहुत सी मर, बहुत सी मरतबा बहुत से अवकात अब फरमाते हैं अभी इस पे नसब क्यों आ गया नसीबा अला ज़रफ़ी नसब दिया गया है ज़र्फ होने की बुनियाद पर ज़र्फ होने की बिना पर तो नसब दिया गया है लिअन्नाहु मिन सिफतिल अहयान इसलिए कि वो अहयान की अहयान की सिफत है यहाँ पर था अहियान कसीरन है ना बहुत से औकात सही के माना वक्त के होते हैं अहियान कसीरन बहुत से औकात तो ये कसीरन सिफत बन रहा था लेकिन यहाँ पर ये महजूफ नहीं बल्कि यहाँ अहियान को हज कर दिया और कसीरन को उसकी जगह पर रख दिया और कसीरन को उसकी जगह पर रखकर जो एराब आ रहा था किस पर अहयानन पर जर्फ होने की वजह से वो मंसूब हो रहा था वही आराम कसीरन को भी दे दिया गया तो अब कहा कसीरन तो ये जो मंसूब है ये अहियान की सिफत होने की वजह से लेकिन अब अहियान की सिफत फिलहाल नहीं है अब तो जो है अहियान की जगह में कसीरन है है ना ये तो अहयानन कसीरन ठीक है बहुत से औकात ठीक है अब क्या करा अहियान को हज कर दिया और उसकी जगह कतीरन को ही बाकी रख दिया और जो एराब था अहियान पर दो जबर वाला वही एराब किसको दे दिया अहियान को दे दिया तो इसलिए तर्जुमा करते हैं बहुत से औकात बसा औकात माँ जो है माँ ये इसकी ताकीद के लिए है कसरत के माना की ताकीद के लिए है कसीरम माँ बहुत सी मरतबा बहुत से औकात फरमाते नसीबा अला वर्दी इसको नसब दिया गया है जर होने की बुनियाद पर सिफत अहयानी इसलिए कि यह अहयान की सिफत में से है सिफत है वमा लिताकीदी की भी अहयान की सिफत है वमा लिताकीदी मानल कसरती और मा कसरत के माना की ताकीर के लिए है आगे फरमाते हैं वल आमिलू फी कौलू युसम्मा और आमिल इसके अंदर जो ज़र्फ़ के अंदर आमिल है जो उसको नसब दे रहा है क्या है युसम्मा युसम्मा की वजह से उस पर नसब आ रहा है अब युसम्मा की जो ज़मीर है उसको निकाल कर बतला रहे हैं युसम्ना दारिकल वसूल मजकूर उस वसफ़ मजकूर का नाम रखा जाता है फसाहत भी अरे वसफ़ मजकूर क्या है मुताबकतुलकलामी मुख्तल हाली नीचे लिखा हुआ ना कलाम का मुख्त हाल के मुताबिक होना इसका नाम क्या भी रख दिया जाता है फसाहत भी रख दिया जाता है कमा युसम्मा बलावतन जैसा कि उसका नाम बलावत रख दिया जाता है अच्छा जी फ़ाइसु युकालु बस जहाँ कहा जाता है कि इन्ना इजाज अल कुरानी मिन जिहति कौरी फ़ी आला तबकात अल तबक़ातफ़साहती कि क़ुरान का मुजिज़ होना क़ुरान के इजाज उसके फसाहत के आला तबक़ात में होने की वजह से है युराद बिहा हादल माना तो उसके ज़रिए यानी फसाहत के ज़रिए से यही माना होते हैं यही माना कौन से अलमुताबकतल मुख्तल हाल के यानी मुख्त हाल के मुताबिक होने के अब आगे वाला हा आई लिबलागतिल कलामी तरफानी और उसके लिए किसके लिए बलागत कलाम के लिए तरफानी दो तरफ हैं एक है हद एजाज यानी एजाज की हद आखिर इंतहा कि जिसके आगे जो है ऐसा कलाम न किया जा सकता हो कि जो लोगों को आजिज कर दे एजाज कहते हैं कि कलाम इतनी बुलंदी पर हो बलागत के अतबार से कि वो इंसान की ताकत से बाहर हो और वो उसका मुकाबला करने से लोगों को क्या कर दे आजिज कर दे और एक है जो हद एजाज के करीब करीब उन्हीं दोनों किस्मों को यहाँ पर फरमा रहे हैं वाला आई लिबलागतिल कलामी तौरफानी और उसके लिए यानी बलागत कलाम के लिए दो तरफे हैं दो मरतबे हैं है आला वह हुआ हद्दुल एजाजी और वह हद एजाज है वमा यकरूब मिन और वो जो उसके यानी हद एजाज के करीब हो तो दो तरफे हो गए ना एक तो आला है और आला क्या है हद एजाज और एक दूसरी क्या है जो हद एजाज के करीब करीब है हद एजाज किसको कहते हैं वह हुआ तकील कलाम في بلاغته الى ان يخرج عن तोकिल البشر ويعجزهم عن معارضته اور और वो ये है कि कलाम बुलंद हो کلام कलाम बुलंद हो अपनी میں में ان يخرج यहाँ तक के वो इंसान की ताकत से निकल जाए और उनको उसका मुकाबला करने से आजिज कर दे जैसे कि कुरान करीम के बारे में है वमा यकरबिन हूँ और वो जो उससे करीब है फरमाते हैं अतफन आला कौली हुआ ये वमा यकरब मिनहू का जो आसफ है वो हुआ पर है वह ज़मीर फ़ी मिनहू आदन इला आला और ज़मीर मिनहू में फी मिनहू और ज़मीर मिनहू में वो आला की तरफ लौटने वाली है समझ है ना देखो मा वमा यकरूब मिनहू किस पर आते है इसका हुआ पर क्या आला और वो हद एजाज है ठीक है और क्या है माया क्रूब मिनहू जो हद एजाज से करीब उसी को फरमा रहे यानी अन्नल आला वमा यकरूब मिनहू कलामुहुमा हद्दुल एजाजी यानी बेशक आला और जो उसके करीब करीब है जो उसके करीब है दोनों की दोनों हद एजाज हैं हादा हुवल मुआफ़िक लिमा फिल मिफ्ताह यही मुआफ़िक है उसके जो मिफ्ताह में है मिफ्ताहुल ूम के अंदर है ये तो बात हुई सीधी सीधी अब आगे जो बाज लोगों ने कहा है उसको जिक्र फरमान है बाज लोगों ने यह कहा है कि इसका अस्फ कर दो हद्दुल एजाज पर हम्म ध्यान से इसका अस्फ कर दो हद्दुल एजाज पर तो देखो हद्दुल एजाज पर अगर आप करते हैं तो क्या खराबी लाजिम आती है ये मतलब होगा कि बलागत कलाम की दो तरफे हैं दो मरतबे हैं आला आला और वो हद एजाज है ठीक है अब तो हद एजाज पर आप करेंगे तो ये होगा आला और वो हद एजाज है और वो है जो उसके करीब करीब हो तो आला की दो किस्में हो गई आला की दो किस्में होगी तो देखो आला किसको कहते हैं जो सबसे बुलंद हो तो जो सबसे बुलंद है तो वो दो कैसे हो जाएंगी हद एजाज भी और जो उसके करीब हो वो भी आला हो आला जो सबसे ऊपर हो इसमें तफजील है ना इसमें तफजील है आला जो सबसे ऊपर हो तो हद एजाज और जो उससे करीब करीब है दोनों ये आला कैसे हो जाएंगे आला तो एक ही होगी ना आला तो एक ही होगी तो कहते हैं कि इससे खराबी लाजिम आती है जब हदुल एजाज पर आस किया जाए तो इसलिए हदुल एजाज पर आस न करके क्या करेंगे हुआ पर आस करेंगे उससे ये खराबी लाजिम नहीं आएगी उस वक्त में ये हो जाएगा कि बलागत कलाम की दो तरफ़े हैं एक तो आला है वो हद एजाज है और एक दूसरी तरफ जो है वो वो है जो उसके हद एजाज के करीब है वज़ामा अला और उनमें से बाद ने ख्याल क्या है कि वो मातूफ है किस पर हद्दुल एजाज पर वह ज़मीर आदन और ज़मीर उसी की तरफ लौट रही है यानी हद्दुलजाज की तरफ ही लौट रही है यानी अनफ़ल आला हुआ एजाजी व मायाकूब मिन एजाजी यानी बेशक तरफ आला वो हद एजाज है और वो है जो हद एजाज के करीब हो हालांकि ऐसा हो नहीं सकता वफ़ी नजर और इसके अंदर नज़र है लिअनकरीब मिन मिन तरफ़ आला इसलिए के करीब हद एजाज से तरफ़ आला में से नहीं हो सकती है मैंने बदला ना अभी तरफ़ आला में से तो हो ही नहीं सकती वरना तो दोनों का आला होना लाजिम आएगा वक़द शरही और हमने इसको शरह के अंदर वाजह कर दिया है जिसका जी चाहे वहाँ देख सकता है वह असफल है और असफल है असफल देखो यहाँ और बलागत कलाम के लिए तरफान दो तरफे हैं ठीक है वो वह हद एक तो हुई हद एजाज और जो उससे करीब है हम्म और आगे वह असफल और असफल है समझे ना हद एजाज और जो उसके हद एजाज के करीब और असफल नीचे की है असफल क्या है जी वह हुआ मा इरा गुजरल कलाम अनहु इलामा दूनहु और वो वो है यानी असफल वो है कि जब कलाम को उससे उसके नीचे की तरफ बदल दिया जाए असफल से नीचे की तरफ बदल दिया जाए जब कलाम को बिल्कुल एकदम नीचे गिरा दिया जाए तो अब ये कलाम ऐसा हो जाएगा जैसा कि जानवरों का कलाम हुआ करता है बुलागा के नज़दीक जब उसके अंदर मुख्त हाल की बिल्कुल रियायत ही नहीं होगी तो अब बलीग लोग क्या कहेंगे भाई इसमें मुख्त हाल की बिल्कुल रियायत नहीं है इसलिए कलाम तो ऐसी है जैसे कोई जानवरों का कलाम हुआ करता है ये फरमाते हैं कि वो जानवरों के कलाम के साथ में लाख हो जाएगा जैसा कि उनकी ज़बानों से वो अपने अपने महलों से कलाम निकलता है ऐसे ही ये कलाम हो जाएगा जबकि इनके अंदर उन लतीफ़ चीज़ों का और उन खवास और जायद चीज़ों का एतबार नहीं किया जाएगा फरमाते हैं वह हुआ मादा गुजर कलाम हो और वो वो है कि जब कलाम को उससे उसके नीचे की तरफ यानी ऐसे मरतबे की तरफ बदल दिया जाए कि वो उससे अदना हो अदना में असफल से भी क्या हो अदना हो वह अनजल और नाजिल हो उतरा हुआ हो तो क्या कहते हैं इल्तहाकल कलाम तो कलाम लाहिक हो जाएगा इन दल बुलगाई बेअसवातिल हयावानाती बुलगा के नज़दीक जानवरों की आवाज़ के साथ एक शख्स इनकार कर रहा है हम्म, तो इनकार एक हाल है और इसका तकाजा क्या है कलाम को ताकिद के साथ लाया जाए अब कलाम को ताकिद के साथ लेकर ही नहीं आ रहे कह रहे हैं कि सईद कामा देर खड़ा है या और दूसरे अंदाज से कह रहे हैं बगैर ताकिद के और बगैर किसी हसर के तो अब देखो ये कलाम तो है अरब वाले क्या कहेंगे कि भाई कलाम ठीक है जैसे जैदन कायम जैद खड़ा है काम जैदन काम जैदन जैद खड़ा है कलाम ठीक है ना अहले अरब तो कहेंगे कलाम ठीक है लेकिन गली अगलो क्या कहेंगे जानवरों की आवाज़ों के साथ मिल गया कि उसके अंदर कोई बलागत की रियायत ही नहीं है जब वो इनकार कर रहा है तो उसके इनकार के एतबार से यहाँ पर ताकीर आनी चाहिए बल्कि का चलाना वाजिब है इल्तहाकलाम व इनकान सहीराबी इंदलबलगाबातवानती कलाम लाक हो जाएगा मिल जाएगा अगरचे वो सहीराब हो उसके आराब सही हो किनके नज़दीक इंदलबलगा बुलगा के नज़दीक बलीग लोगों के नज़दीक बेअसवातवानात जानवरों की आवाज़ के साथ अल्लती तस्दुर अनमहाल वो आवाज़ वो जानवर हम्म। अल्लाह तस्दुर महालिया के जो उनके महलों से क्या जो क्या अल्लाह क्या आवाज़ है ना वो आवाज़ जो उनके महलों से उनकी जगहों से क्या अल हयावाना यानी जानवरों से तस्तुर निकलती है साजिर होती है निकलती है यानी वो आवाज़ के जो उनके महलों से यानी जानवरों से निकलती है बेहद बीमा यतफ़ू कैफा मुस्तफ़ इस एतबार से जैसा भी इतफाक़ हो यानी कई फम इतफाक़ कैसे ही जो है वो आवाज़ निकाल देते हैं जानवर ऐसे ही जो है बुलागा के नज़दीक बग़ैर मुताबकत मकसद हाल के कलाम करना जानवरों की आवाज़ के साथ लाक हो जाएगा बिन गैर एतबार लताइफी लताइफ बारिक बातें का बार, बारिक बातों का लताइफ का एतबार किए बग़ैर वलखवासी असल मुरादी और उन खास खास चीज़ों का एतबार किए बगैर जो असल मुराद पर जाहिर होती हैं वही खसूसियात जो होती हैं मकद हाल के मुताबिक फरमा रहे हैं वबैन हमा आई बैन निवरात वरात कसरत और उनके दरमियान किनके दरमियान अरे ये जो दोनों तरफे हैं इन दोनों तरफों के दरमियान मरातिबन कसरत बहुत सारे मरतब एक आला और एक असफल इनके दरमियान में क्या है बहुत सारे मरतबे हैं मुतफावित जो मुख्तलिफ हैं बलागत के अंदर बाद आला मिन बाजिन बाद उनमें से आला हैं बाद से बेहसब तफावत मकामाती मकामात के तफावत के एतबार से तो मकामात के तफावत और शख्स के एतबार से बाज बाज से आला हो जाती है और वह रियायत एतबारात और एतबारात की रियायत के एतबार से कि उसके अंदर जो चीज़ जिन चीज़ों का एतबार करना चाहिए उनकी एतबार जैसी होती है ऐसा ही फिर कलाम या तो आला होगा या असल होगा या फिर उसके दरमियान में जैसी रियायत होगी ऐसा होगा जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स के हाल है दस और उधर वो कलाम के अंदर रियायत कर रहा है तीन चार की ठीक है तो ये चार की रियायत करना ये उन दोनों के दरमियान होगा अगर पांच की कर रहा है तो उससे थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा तीन की कर रहा है तो इससे थोड़ा नीचे हो जाएगा समझाए ना इसको फरमा रहे हैं और ऐसे ही अगर मुखिल बिल फसाहत कोई चीज़ आ जाए तो उसके एतबार भी इसके अंदर होगा उसका भी जो है मुख्तलिफ मराती होते हैं कला में फंसी है लेकिन उसके अंदर मुखिल बिल फसाहत ऐसी चीज़ आ गई कि जो फसाद से तो खारिज नहीं करती लेकिन उसके मरतबे को गिरा देती है तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ होंगे ठीक है फरमारे और मुखिल बिल फसाहत के इसबाब से बोर्ड का भी एतबार यही कि जैसे मुखिल बिल फसाहत एतबार मुखिल बिल फसाहत चीज़ आएंगी मुखिल बिल फसाहत इसबाब आएंगे तो उनके एतबार से ये मुख्तलिफ होगा कहीं नीचे हो जाएगा कहीं ऊपर हो जाएगा तो इस तरह से इसके अंदर फर्क आता चला जाएगा वतत बाउहा आई बलागतुल कलामी और उसके पीछे यानी बलागत कलाम के पीछे पीछे वजूहन उखरा दूसरी वजूह भी हैं यानी बलागत कलाम के बाद पीछे का मतलब बाद वजूहन उखरा दूसरी चीज़ें भी हैं सिवल मुताबकती वल फसाहती मुताबकत और फसाहत के अलावा तूरिसल कलाम हसनन जो कलाम के अंदर हसन को पैदा कर देती हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ से ये बात बयान फरमाना चाहते हैं तो एक तो फसाहत हो ही गई और एक बलागत होगी मुख्त हाल की मुताबकत होगी अब कहते हैं कि इसके अलावा एक चीज़ और भी है वो क्या है वो है मुहसिनात बदिया उसका वो देखो बलागत का तो ताल्लुक ज़ात से होता है है ना और जो महसिनत होती हैं महसिनत बदिया वो ऊपर से आकर उसके अंदर हसन पैदा करती तो इनके अलावा वो चीज़ें भी हैं लेकिन वो कलाम की ज़ात में दाखिल नहीं है बल्कि खारिज वो उसके लिए अर्ज का दर्जा रखती हैं और उसके बाद बला यानी बलागत कलाम के बाद के पीछे दूसरी वजूह भी हैं सिवल मुताबकती वल फसाहती मुताबकत और फसाहत के अलावा तूरिसल कलाम हसन जो कलाम के अंदर हसन को साबित करती हैं हसन पैदा करती हैं वफ़ी कौली तत्बाह और मुसनफ़ के कौल ततबा के अंदर इशारत इला तहसीना हादिल वजूह कलाम आरजी इशारा इस बात की जानब है कि इन वजूह की तहसीन इन वजूह की तहसीन यानी इन वजूह की वजह से कलाम का हसीन होना कलाम के लिए आरजी है ज़ात के अंदर दाखिल नहीं है खारिज नान हदिल बलागती ये बलागत की हद से खारिज है आएंगी वो उसके अंदर महसिनात बदिया वगैरह में दुरुस्त बराबर के अंदर इन आएंगी वो अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा व इला अन्ना हादिल वजूहिल इन्नमा तो आदु महसिन बाद रियायत मुताबकती वलफसाहती और इस बात की जानब भी इशारा है कि वजूह इनको शुमार किया जाता है मुहसिना यानी इसके अंदर हसन पैदा करने वाली कब बाद रियायत मुताबकती वलफसाहती मुताबकत और फसाहत की रियायत के बाद तो पहले उसमें फसाहत होगी और मुताबकत होगी हाल की मुताबकत होगी उसके बाद में वो उसके अंदर हसन पैदा कर देंगी जैसे पहले अच्छी तरह से घर बनेगा सब कुछ उसके बाद ऊपर से रोगन कर दिया जाएगा रंग कर दिया जाएगा तो उससे हसन और खूबसूरती पैदा हो जाएगी हाँ, वजह ताबियात बलागतिल कलामी दून मुतकलमी लिअन्ना लईसत मिम्मा यजाल मुतकलम मुतसिफ़न बिसिफ़तिन और इन वजूह को ताब करार दिया इन वजूह को ताब करार दिया है बला और इन वजूह को बलागत कलाम के ताब करार दिया ना कि मुतकलम के इसलिए कि वो यानी ये वजूह मजबूर उन चीज़ों में से नहीं है कि जो मुतकलम को किसी सिफत के साथ मुस्तफ़ कर दें यहाँ से एक, एक ये इसकाल का जवाब है इसका ये होता है कि जो वजू हैं इनको कलाम के साथ तो लाए लेकिन मुतकलम की सिफत नहीं बनाया मुतकलम के साथ भी तो कहते हैं कि इस तरह एक बात तो ये है कि इस तरह से कहा नहीं जाता उसके अंदर होती है तिबाक वगैरह वो चीज़ें होती हैं तो कलाम मुतकलम को उनके साथ उन सिफात के साथ मुतसिफ नहीं किया जाता बल्कि सिर्फ कलाम को ही मुतसिफ किया जाता है तो इस वजह से हमने भी जो है उसके साथ में जिक्र नहीं किया है फरमाते हैं और इन वजूह को बलागत कलाम के ताबे बनाकर लाए ना कि मुतकलम के क्यों इसलिए कि ये वजूह उनमें से नहीं है कि जो मुतकलम की सिफत बनकर वाक़ हो सकें जिनको मुतकलम की सिफत बनाया जा सके